से पूछते नहीं कैसे खिले तारे किसी से पूछते नहीं कैसे जले आदमी को पूछना पड़ता है कि कैसे वो वही हो जाए जो होने को पैदा हुआ है सहज तो होना चाहिए परमात्मा में होना लेकिन आदमी कुछ अद्भुत है जिसमें होना चाहिए उससे चूक जाता है और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो जाता है कहीं कोई भूल और भूल भी बहुत सीधी है आदमी होने को स्वतंत्र है इसलिए भटकने को भी स्वतंत्र शायद ये भी हो सकता है कि बिना भटके पता ही ना चले क्या है हमारे भीतर शायद भटकना भी मनुष्य की प्रौढ़ता का हिस्सा हो मैं एक छोटी सी कहानी से समझाऊं फिर हम समाधि के प्रयोग के लिए बैठे एक आदमी था बहुत धन था उसके पास लेकिन शांति न थी जैसा कि अक्सर होता है धन की तलाश करता है आदमी की शांति मिलेगी धन तो मिल जाता है पर शांति जितनी दूर थी शायद उससे भी ज्यादा दूर हो जाती सब पा लिया था लेकिन आनंद की कोई खबर ना मिली थी अब वो बूढ़ा होने आ गया था तो उसने बहुत से लाखों करोड़ों के हीरे जवारात अपने घोड़े पर ले लिए और खोजने निकल पड़ा खोजने नहीं कहना चाहिए आनंद को खरीदने निकल पड़ा जो आनंद दे दे उसे ही वे सारे ही जबरात दे देना चाहता था बहुत लोगों के पास गया जहां जहां खबर सुनी वहां वहां गया लेकिन किसी को आनंद की कोई खबर न थी लोगों ने आनंद की बातें तो की लेकिन उसने कहा बात नहीं मुझे आनंद चाहिए और मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ लेकिन कई जगह उसे लोगों ने खबर दी कि तुम कुछ ऐसा काम करने निकले हो कि सिर्फ एक फकीर है फला फला गांव अगर वो कर दे तो कर दे और कोई ना कर पाए फिर आखिर वो उस गांव में भी पहुंच गया सांझ का समय था अमावस की रात थी सूरज ढल गया था गांव के बाहर ही एक वृक्ष के नीचे वो फकीर मिल गया उस अमीर आदमी ने घोड़े से उतरकर वो थैली उस फकीर के पैरों के पास पटक दी और कहा करोड़ों रुपए के हीरे जवारात हैं मुझे आनंद चाहिए एक झलक मिल जाए मैं सब देने को राजी हूँ उस फकीर ने कहा पक्का इरादा करके आए हो उस आदमी ने कहा पक्का महीनों से घूम रहा हूं और उदास हो गया हूं तुम पर ही आशा टिके उस फकीर ने कहा सच में ही आनंद चाहिए बहुत दुखी हो आदमी ने कहा दुख का कोई हिसाब नहीं आनंद की कोई किरण ही नहीं मिलती तो ये बात ही चलती थी कि अचानक उस अमीर ने देखा कि ये क्या हुआ उस फकीर ने वो झोली उठाई और भाग खड़ा हुआ एक क्षण तो अमीर सख्ते में आ गया अमीर सिर्फ उन फकीरों पर विश्वास करता है जो पैसे न छुए अमीर उनकी पूजा करता है जो पैसे से बिल्कुल दूर रहे क्योंकि अमीर उनसे आश्वस्त रहता है इनसे कोई खतरा नहीं ये फकीर कैसा कि झोले को लेकर ही भाग गया एक क्षण तो उसकी समझ में भी ना आया फिर वो चिल्लाया कि मैं लुट गया मैं मर गया मेरी सारी जिंदगी की कमाई लिए जा रहे हो तुम चोर हो तुम कैसे ज्ञानी और पीछे भागा क्यों अंधेरी रात थी और सन्नाटा था गांव के बाहर लेकिन फकीर खुद ही गांव में चला गया भागता हुआ और अमीर पीछे गया गली गली में फकीर भागने लगा और अमीर पीछे चिल्लाने लगा कि पकड़ो चोर है बेईमान है और मैं समझा था कि ज्ञानी है मैं लुट गया मैं मर गया मैं बहुत दुखी हो गया हूं मेरा सब छिन गया गांव के लोग भी सम्मिलित हो लिए गांव के लोग भी भागने लगे लेकिन फकीर के रास्ते जाने माने थे और अमीर रास्ते जानता ना था पराया गांव था इसलिए फकीर ने बहुत चक्कर दिए फिर अखीर फकीर उसी झाड़ के पास वापिस लौट है झोले को पटक दिया जहां से उठाया था वहीं और झाड़ के पीछे अंधेरे में खड़ा हो गया अमीर आया पीछे हाँपता हुआ भागता हुआ चिल्लाता हुआ लुट गया मर गया है भगवान मेरा सब छिन गया झोले को देखा उठा लिया छाती से लगा लिया उस अमीर की आंखों में उस समय आनंद की झलक थी फकीर बाहर निकला और उसने कहा मिला कुछ आनंद ये भी एक तरकीब है आनंद को पाने की उस तो अमीर ने कहा बड़ी शांति मिली बड़ा आनंद इतना सुखी मैं कभी भी ना था लेकिन ये थैली इसके पास पहले भी थी और ये कहता है इतना सुखी मैं पहले कभी ना था और कहता है बड़ी शांति मिली और ये थैली पूरी की पूरी इसके पास थी घड़ी भर पहले भी इस घड़ी भर में क्या हो गया इस घड़ी भर में इसने खोया जब तक हम खो ना दें उसे जो हमारे पास है हम उसे पा नहीं सकते जब तक हम खो ना दें उसे जो हमारे भीतर है तब तक हम उसे पहचान नहीं सकते शायद इसीलिए मनुष्य को खोना पड़ता है स्वयं को ताकि वो पा सके हम सबने खो दिया है हम उस फकीर और उस अमीर की कहानी में उस जगह हैं जहां थैली फकीर ले भागा है भला फकीर था थैली पटक गया है हमारा मन भी ले भागा है सब कुछ पता नहीं पटकेगा नहीं पटकेगा लेकिन पटक सकता है थोड़ी तैयारी हमें दिखानी पड़े उस फकीर ने थैली कब पटकी जब अमीर और दौड़ने की हिम्मत छोड़ दिया जब अमीर बिल्कुल थक गया तो उस फकीर ने झोली पटक दी अगर हम भी बिल्कुल थक गए हों तो हमारा मन झोली पटक सकता है और हम उपलब्ध हो सकते हैं जो संपदा है समाधि है जो सत्य है जो परमात्मा है और जिस दिन हम उसे पालेंगे उस दिन कहेंगे बहुत आनंद मिला और साथ ही ये भी कहेंगे बड़ी आश्चर्य की बात है लेकिन जो मिला है ये सदा से मेरा ही था लेकिन मुझे कभी पता ना था समाधि उसकी खोज है जो हमें मिला ही हुआ है समाधि पुनर्स्मरण है रिमेम्बरिंग है याद है उसकी जो हमारा ही है लेकिन ये खो देना भी जरूरी है क्या करें समाधि को लाने के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता इतना ही कर सकते हैं कि अपने को रिसेप्टिव बना लें ग्राहक बना लें अपने को खुला छोड़ दें और अगर आता हो सत्य तो आ जाए और परमात्मा अगर आता हो तो आ जाए इतना ही करें मैंने सुना है कि एक आदमी एक रात एक झोपड़े में बैठकर छोटे से दिए को जला के कोई शास्त्र पढ़ता रहा फिर आधी रात गए थक गया फूक मार के दिया बुझा दिया और तब बड़ा हैरान हो गया जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर ही खड़ा रहा भीतर ना आया जब दिया बुझ गया उसकी धीमी सी टिमटिमाती लौक हो गई तो चांद की किरण भीतर भराई द्वार द्वार खिड़की खिड़की रंध्र रंध्र से चांद भीतर नाचने लगा वो आदमी बहुत हैरान हो गया उसने कहा कि छोटा सा दिया इतने बड़े चांद को बाहर रोक रहा हम भी बहुत छोटे छोटे दिए जलाए हैं अपने अहंकार के मैं के उनकी वजह से परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है समाज का अर्थ है फूको और बुझा दो इस दिए को हो जाने दो अंधेरा मिटा दो ये ज्योति जिसे समझा है मैं और तत्काल चारों तरफ से वो आ जाता है सब तरफ से आ जाता है जो हमारे इस छोटे से अहंकार ने मैंने रोक रखा है इसलिए समाधि के तीन चरण मैंने आपसे कहे अंधकार अकेला होना और मिट जाना बुझ जाए दिया प्रकाश परमात्मा का तत्काल मिल जाता है पहला चरण है अंधकार अगर कोई पहले चरण को ही पूरा कर ले तो सब बात हो जाए अगर कोई पूरे अंधकार में ही डूब जाए पूरी तरह तो खुद भी मिट जाए अंधेरा ही रह जाए पहला चरण भी पूरा हो जाए तो सब बात हो जाए लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता इसलिए दूसरा करना पड़ता है दूसरा भी पूरा हो जाए कि सच में ही मुझे ज्ञात हो जाए कि मैं बिल्कुल अकेला हूं तो वो हमें मिल जाएगा जो सदा से अकेला ही है लेकिन वो भी नहीं हो पाता इसलिए तीसरा चरण उठाना पड़ता है मिट गया हूं अगर मिट जाऊं पूरा तो अभी मिल जाए वो जिसकी तलाश है वो खुशी जो मुझे कभी ना मिली क्योंकि मैं ही तो दुख का कारण था मुझे खुशी मिलेगी भी नहीं वो रोशनी जो मुझे कभी दिखाई ना पड़ी क्योंकि मैं ही तो टिमटिमाता दिया था जिसने कि बड़े सूरज को रोक दिया वो स्वर वो संगीत जो मुझे कभी सुनाई ना पड़ा अभी सुनाई पड़ जाए लेकिन मेरे मैं की धुन बहुत मजबूत है और उसी में हम लिए वो हम भीतर मैं और मैं और मैं कहे चले जा रहे हैं कबीर ने कहा है कि देखा था एक बकरा जो मैं मैं मैं मैं किया जाता था फिर मर गया वो बकरा उसके चमड़ी से किसी ने तानपुरे के तार बना लिए और मैं उस रास्ते से गुजरता था और मैंने उस तानपुरे पर ऐसा गीत सुना जो मैंने कभी ना सुना तो मैंने रोका उस आदमी को कहा कि कहां से पाए ये तानपुरे उसने कहा देखा नहीं एक बकरा था यहाँ जो मैं मैं मैं किया जाता था ये वही है मर गया मैं करने वाला अब तानपुरे का तार हो गया अब बड़ा संगीत पैदा हो रहा लेकिन जब तक मैं मैं पैदा होती थी तब तक वो संगीत पैदा नहीं होता वो मैं मैं भीतर हम भी कहे जा रहे तो हम वीणा नहीं बन पाते परमात्मा की उसमें वो संगीत पैदा हो जाए लेकिन हो सकता है कबीर खूब हंसने लगे कि ये तो खूब रही जिंदा बकरा संगीत ना गा सका सिर्फ मैं मैं करता रहा मरा बकरा संगीत पैदा कर रहा है कबीर ने लौट के अपने साथियों से कहा क्या अच्छा ना हो कि हम भी मर जाएं छोड़ दें मैं मैं मर जाएं अभी मैं देख के आ रहा हूं चमत्कार एक जिंदा बकरा कभी गीत ना गा सका मर के गीत गा रहा है तो हम भी मर जाएं ना वही मैं कह रहा हूं कि मिट जाए ना तो फिर रह जाए संगीत हमारे मिटते ही रह जाता है मिटने के तीन चरण हम उठाएंगे पहले चरण में पांच मिनट तक परिपूर्ण अंधकार का भाव करेंगे ध्यान रखें कोई किसी को छू ना रहा हो अगर छू रहा हो तो थोड़ा हट के बैठ जाएंगे कोई भी किसी को छूता हुआ नहीं हो आंख बंद कर लें शरीर ढीला छोड़ दें शरीर ढीला छोड़ दें आंख बंद कर लें और देखें अंधकार ही अंधकार है चारों ओर अंधकार ही अंधकार है अनंत अंधकार है सब और सब दिशाओं में अंधकार ही अंधकार है भाव करें देखें अनुभव करें अंधकार ही अंधकार है सब मिट गया बस अंधकार ही अंधकार रह गया चारों ओर घुप अंधकार है इस अंधकार को पांच मिनट तक अनुभव करते रहे अंधकार ही अंधकार है न कुछ सूझता न कुछ दिखाई पड़ता बस अंधकार ही अंधकार है और जैसे जैसे अंधकार गाढ़ा होगा और जैसे जैसे अंधकार घना होगा और जैसे जैसे अंधकार ही अंधकार रह जाएगा वैसे वैसे एक अपूर्व शांति सब तरफ से उतरने लगेगी रोए रोए में हृदय की धड़कन धड़कन में श्वास श्वास में शांति उतर आएगी देखें अनुभव करें अंधकार ही अंधकार है अंधकार ही अंधकार है एक पांच मिनट के लिए बस अंधकार को ही देखते रहे और देखते देखते ही मन शांत हो अंधकार ही अंधकार है अंधकार ही अंधकार है अंधकार ही अंधकार अनंत अंधकार है सब और अंधकार है अंधकार ही अंधकार है और मन शांत होता जा मन शांत मन शांत हो गया मन शांत हो गया मन शांत One song. अंधकार ही अंधकार है अनंत अंधकार है चारों अंधकार है अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मन शांत मन शांत हो गया मन अंधकार ही अंधकार बस केवल अंधकार है और मन शांत हो गया मन शांत हो गया मन शांत मन शांत हो गया है मन बिल्कुल शांत हो गया मन शांत हो गया मन शांत हो गया मन शांत हो गया मन शांत अंधकार ही अंधकार है चारों अंधकार है अनंत अंधकार है और मन बिल्कुल शांत हो गया मन शांत हो गया मन शांत हो गया मन शांत हो गया मन शांत हो गया मन शांत मन शांत इस अंधकार को ठीक से पहचान ले समाधि का पहला चरण है परिपूर्ण अंधकार जहां कुछ देखने को नहीं जहां कुछ सोचने को नहीं अंधकार केवल अंधकार और मन शांत अंधकार केवल अंधकार और मन शांत अब धीरे धीरे आंख खोल लें जैसी शांति भीतर है वैसी ही बाहर भी दिखाई पड़ेगी